Yeah. Krishna तपसुधि पाई तपज जाय रघुपति सुनाई नाथ करई रावण एक जागा सिद्धि भय नहीं मरे ही अभागा नाथ बेगी भट बंदर करही विधन से आव दस कंदर प्रात होत प्रभु सुभग पठाए हनुमदादि अंगद सब धाये कपूर चढ़े कपिलंका बैठे रावण भवन शंका यज्ञ करत जब सो देखा सकल कपिन भा क्रोध विशेखा नीरज भाजी गृह आवा यहाँ आई बक ध्यान लगावा अस कही अंगद मारा लाता चितवन सख स्वारत मन राता

कृतांत सम गई चरण बानर डारई यही बीच कपिन विधंस कृत मख दे मन मुहारई विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास चले निशाचर क्रोध हुई त्याग जी युद्ध संपूर्ण हुआ उस समय रावण युद्ध क्षेत्र में बेहोश हो गया साक्षी उठा करके भवन में ले गए वहां जब रात्र में उसे होश आया तो वो यज्ञ करने लगा इधर रात्र में ही विभीषण ने भगवान राम को बताया कि सूचना मिली है कि रावण तो यज्ञ कर रहा है और उसे यज्ञ में सफलता मिल गई तो उसको मारना और मुश्किल पड़ जाएगा वैसे ही बड़ा शक्तिशाली है यहाँ विभीषण सब शुद्ध पाई मैंने यहाँ विभीषण को सारी शुद्ध का मैंने खबर है इस बात की खबर मिल गई कि रामण यज्ञ कर रहा है और शपथ जाए रघुपत सुनाई उसी समय रात्र में ही जाकर तो समझा बता दिया भगवान राम को कि ऐसी ऐसी घटना घट गट रही नाट करे रावण एक जागा ये भगवान रावण एक यज्ञ कर रहा है और सिद्ध भय नहीं मरे ये भागा और अगर यदि यज्ञ पूरी हो गई तो वो हमारे नहीं मरेगा और मुश्किल हो जाएगा तो पठव नाथ बेग बंदर इसलिए अब ऐसा करना चाहिए कि बानरों को भेजें और यज्ञ न होने दें करें विध्वंस आवद सिकंदर यज्ञ विध्वंस हो और फिर रावण युद्ध क्षेत्र में आवे और युद्ध करे यज्ञ न उसकी पूरी होने पावे इसमें एक बात तो ये कि कुछ लोग यज्ञ एक शब्द ऐसा करके मानते हैं परम पवित्र यज्ञ का कार्य है और सब यज्ञ एक समान होते हैं ये शास्त्र का कथन नहीं है शास्त्र जो है वो हो तामसी यज्ञ भी कहते हैं तामसी यज्ञ भी होते हैं और तामसी यज्ञ लोक का अहित करने वाले होते हैं वो यज्ञ तो होते हैं लेकिन नाम मात्र के होते हैं यज्ञ का जो मुख्य तात्पर्य है लोक कल्याण सबका हित उन यज्ञों में तामसी यज्ञों में नहीं होता है इसलिए तामसी यज्ञ यदि विध्वंस कर दिया जाए तो उसमें कोई पाप नहीं है अब बात रही राजसी यज्ञों की सात्विक यज्ञों की उनका भी वर्णन गीता में आता है सत्रहवें अध्याय में अठारहवें अध्याय में जहाँ तीन गुणों का वर्णन है वहां पर ये भी है कि जब राजसी यज्ञ भले ही लोक कल्याण के लिए किया जाए लेकिन अविध पूर्वक जब किया जाता है और स्वार्थ उसमें प्रधान होता है चाहे अपना यश कीर्ति चाहता हो चाहे स्वार्थ चाहता हो तब जब इस प्रकार की यज्ञ की जाती है तो वो राजसी यज्ञ कहलाती है और राजसी यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता उसका बस फल है तो एक यही है कि लोग समझेंगे कि इसने भी यज्ञ किया तो कहें बाबा इसने खूब यज्ञ किया आपको भी यज्ञ किया बस इतना ही भले जो है अज्ञानी लोग उसके यज्ञ करने की प्रशंसा भले ही कर दें बाकी यज्ञ का कोई फल मिलने वाला नहीं यज्ञ होना चाहिए सात्विक ध्यान रखें सात्विक यज्ञ जो है वो विधि पूर्वक होगा विधि और अविध बहुत महत्व रखते अविध पूर्वक किए हुए यज्ञ फल नहीं देते विधि पूर्वक यज्ञ गीता के इसलिए अध्ययन बहुत आवश्यक है ये समस्त जितने की सिद्धांतिक बातें हैं गीता में मिल जाती हैं यद्यप संक्षेप में मिल जाती हैं लेकिन सब उपलब्ध है वहां पर और फिर उसके बाद जो सात्विक यज्ञ हैं वो भी दो प्रकार के हैं एक द्रव्य यज्ञ है दूसरे ज्ञान यज्ञ है द्रव्य यज्ञ का जो फल है वो नश्वर है यज्ञ ठीक है अच्छा है यज्ञ फल भी प्राप्त होता है लोक कल्याण भी होता है लेकिन उसका फल विनाशी है बिना सेवन फल प्राप्त होगा खत्म भी हो जाएगा सदा बना नहीं रहेगा लेकिन दूसरे प्रकार के यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ है ये ज्ञान यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है और इस ज्ञान यज्ञ का फल भी अविनाशी है अविनाशी वन फल जो सुख है आनंद है वो हो ज्ञान यज्ञ का ही फल है और वो हो ज्ञान यज्ञ का जो फल है वो शाश्वत है मैंने मुक्ति प्राप्त हो गई पूर्णता प्राप्त हो गई परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो फिर वो सदा बनी रहती है वो समाप्त नहीं होती इसलिए यज्ञों का विभाजन जो विभिन्न प्रकार से है उसे ध्यान में रखना चाहिए सब धान पास कसेरी नहीं है साधना काल में इस बात को बराबर समझना चाहिए नहीं यज्ञ नाम दे दिया तो बस एक ही बात आ गई कि चाहे तामस यज्ञ हो कुछ भी यज्ञ हो कोई लोग इसी प्रकार के यज्ञ का नाम दे करके के यज्ञ का विध्वंस करा दिया भगवान राम ने मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करा दिया ऐसे नाम सुनते हैं तो लोग अच्छे चढ़ाते हैं कुछ लोग जो याज्ञिक लोग हैं और जिनको यज्ञ के तात्पर्य को नहीं समझ में आता लेकिन यज्ञ के नाम मात्र से परिचित हैं <clears throat> वे लोग जो है इस प्रकार की शंकाएं करते हैं और दोषारोपण भी करते हैं उनका दोष गलत <clears throat> उन्हें अपनी बुद्धि को सुधारना चाहिए शास्त्र में दोष नहीं देना चाहिए <clears throat> इसलिए जब विभीषण ने बताया कि वो यज्ञ कर रहा है तो भगवान राम ने क्या किया अब भगवान राम धर्म की रक्षा करते हैं इसलिए देखो यहाँ पर भी सावधान है उन्होंने भगवान ने क्या किया रात्र में यद्य विभीषण ने बता दिया कि रावण यज्ञ कर रहा तो भगवान ने कहा तो करता है तो करने दो अब हम रात में तो हम कुछ उसको करेंगे नहीं प्रातः काल होने दो तब देखेंगे माने रात्र में युद्ध करना भी धर्म विरुद्ध है और रात्रि में रावण के घर में घुसना और वहां जाकर के जहाँ यज्ञ कर रहा है उसमें बीच में बाधा डालना ये भी अनैतिक है अधार्मिक कार्य है भगवान ने वो नहीं किया लेकिन यज्ञ विध्वंस करने की बात विभीषण की मान ली तो प्रातः काल जो है भगवान ने क्या किया कि प्रात हो तो प्रभु सुबह पठाए जब प्राप्त हो गया प्रातः काल सूर्योदय हुआ तैसे तो भगवान ने बालकों को भेजा और बता दिया उनको सब किस प्रकार रावण यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ का भी विध्वंस करना है जैसे मेघनाथ यज्ञ को विध्वंस कर दिया वैसे ये भी करना है तो हनुमान आदि अंगद सब धाये बस फिर हनुमान अंगद बानर ये सब लोग जो वो दौड़े और दौड़े घुस गए लंका में जहाँ उसका राजभवन था जहाँ वो यज्ञ कर रहा था वहाँ ये सब बानर पहुंच गए कौतुक कूद चढ़े कभी लंका खेल खेल में जैसे बानर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं दीवालों पर चढ़ जाते हैं ऐसे चढ़ गए <clears throat> उसके किले के ऊपर चढ़ गए कूद गए उसके नगर में घुस गए उसके घर में और वहाँ यज्ञ विध्वंस करने लगे फैके रावण भवन शंका और वहां रावण के घर में बैठे मैंने प्रविष्ट हो गए राम के घर में निर्भय होकर के गए अब देखो रावण इतना शक्तिशाली जिसके कि लंका में कोई आ नहीं सकता उसके घर में बांधा घुस जाए ये सब इस प्रकार वो रावण रोके न पावे ये होता उसमें तो कहते हैं कि वहां जाकर के घुस करके रावण किया यज्ञ करते जब वहीं सो देखा बानरों को देखा क्या वास्तव में रावण तो यज्ञ कर रहा तो उनको ढूंढते देर नहीं लगी धुआं उठ ही रहा था जहाँ यज्ञ का धुआं उठ रहा था वही बानर लोग पहुंच गए और जब वहां जहाँ से आ रहा था धुआं तो मार गए तो जहाँ रावण यज्ञ कर रहा था वहां बिना पूछे रास्ता मिल गया और पहुंच गए और देखा कि रावण यज्ञ कर रहा और फिर समझ गए कि इसके यज्ञ को विध्वंस करना उन्हें तो सकल कपिन भाग क्रोध विशेखा तो सब बानर के किटाने और उसको यज्ञ विध्वंस करने के लिए प्रयास करने लगे पहले तो इन लोगों ने धिकारा उस रावण को ये बानरों ने क्या किया रणते निर्लज भाजिक रहे आबा अरे तू तो निर्लज है युद्ध क्षेत्र छोड़ करके यहाँ घर में घुस आया और यहाँ आकर के बैठा यहाँ आए पद ध्यान लगा हुआ और यहाँ जो ये तुम्हारा जो यज्ञ हो रहा है ये पक ध्यान बक ध्यान के माने भगवान बगुला बगुला का ध्यान के माने लगाता बगुला का ध्यान ऐसे बैठा हुआ जैसे कि बिल्कुल शांत बैठा हुआ है हाँ, भगवान का स्मरण कर रहा है लेकिन स्मरण किसका कर रहा है पानी की मछली कब ऊपर दिखाई दे कब पकड़े खा जाए हम्म, नहीं भक्त ध्यान में झूठा ध्यान और दूसरे का हित करने वाला तो यज्ञ जो कर रहे हो तो ये अन्याय पूर्वक तुम्हारा हितकारी यज्ञ है और तुम यज्ञ के नाम पर यहाँ बैठ गए आकर अस कही अंगद मारा लाता बस ऐसे कह करके अंगद ने रावण को लात मारा लाखमारी रावण से चुपचाप बैठा हुआ था यज्ञ कर रहा था बिल्कुल सावधान जो इधर उधर देख भी नहीं रहा था तो आप देखो यज्ञ का नियम ये है चाहे कैसे भी यज्ञ करो लेकिन उसमें इतना तो है ही है कि एक बार यज्ञ करने बैठो तो बार बार उठ नहीं सकते यज्ञ करते हुए बीच में आउट देते हुए पूरी यज्ञ किए बिना उठ करके खड़े हो गए तो ये विधान के विपरीत यज्ञ के है और उस यज्ञ का कोई फल नहीं होता यज्ञ समझी जाती है कि खंडित हो गए अब आजकल यज्ञ के नाम पर ऐसे ही यज्ञों का प्रचार है कि आओ यज्ञ में बैठो दस पांच आहुतियां दो खड़े हो भाग खड़े हो जाओ बस दूसरा आप फटाफट दस पांच आहुतियां डाले फिर भाग खड़ा हो इस प्रकार की आहुतियां देने का विधान <coughs> उसमें यज्ञ का नियम क्या है उससे कोई मतलब नहीं अपने मन से जो अपनी समझ में आप सो यज्ञ जो तरीका अपना समझ में आ गया कैसे हम करेंगे बस भाई और उनके दृष्टि में यज्ञ है क्या कुछ सामग्री आग में झोंकना है बस यही यज्ञ चाहे जैसे झोंक दो चाहे खड़े खड़े डाल दो चाहे ऐसे डाल दो चाहे वैसे डाल दो चाहे खट्टी डाल दो चाहे थोड़ी थोड़ी डाल दो झोंकनी है ये है तो सामग्री यज्ञ झोंकने बस यज्ञ हो गया अब ये लोग जो है तो वो जब कहते हैं कि इस प्रकार से <clears throat> उन्होंने रावण उठ नहीं रहा क्यों नहीं उठा है उठ के खड़ा हुआ तो एक विध्वंस अधूरी रह गई उसका फल नहीं मिलेगा इसलिए असत अंगद मारा लाता पच्चितव नशक स्वार्थ मन राता बस वो ये लगता है कि हमारे रावण समझता है हमारी यज्ञ पूरी हो जाए तो जैसा कि <clears throat> शुक्राचार्य ने कहा है कि रथ में से यज्ञ अग्नि को से रखने के लिए परामर्श पर बैठे युद्ध करें विजयी हो जाए ये स्वार्थ उसके मन में है इसलिए वो यज्ञ में लगा हुआ है और रुकता नहीं नहीं चितव जब करी कोप कपि गही दसन अल्लाह ने ही जब वो फिर वो लेकिन उठता नहीं है कहते हैं ये कि हो सकता है कि ये बानर लोग ऐसे ही थोड़ा सा हल्ला गुल्ला डिस्टर्बेंस करके भाग जाए चले जाए तो हम यज्ञ अपने करते रहेंगे यज्ञ हमारी पूरी हो जाएगी लेकिन जब देखा कि बस वो तो उठता ही नहीं है तब तो इन्होंने बानरों ने भी उसको रावण को बहुत मारा नहीं चितव जब करे कोप तो जब रावण देखता भी नहीं इन बानरों की तरफ तो करे कोप कपी गही दसन लातन मारही उसके जो है पैरों उसके रावण के लाते मार उसके दांतों से काट लेते हैं तो लेकिन उसका शरीर तो वज्र के समान उसको लगता क्या है लेकिन रावण को अपमान तो लगता है कि देखो बानर हमारी लात मार रहे है हम ऐसे महान हम तीनों लोगों के स्वामी इतने महान राजा सब बड़े बड़े देवता सब हमारे अधीन और ये मानव हमारी लात मार रहा है तो उसको बड़ा अपमान तो लग रहा है भीतर भीतर बहुत क्रुद्ध हो रहा है लेकिन अपने स्वार्थ के कारण से उठता नहीं धरी केस नारी निकारी बाहर तेत दीन पुकार रही जब पांडवों को देखा कि रावण के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता चाहे जितना मारो काटो वो जो है अपने बैठा हुआ यज्ञ अपने किए ही चला जा रहा कस्य मस नहीं होता तब इन्होंने दूसरी युक्ति सोची दूसरी युक्ति क्या कि वहां तो रावण का राजभवन था ही भवन में स्त्रियां थी उसके रावण की तो वहां पहुंचे थरी के से नारी निकाल उनके बाल पकड़ करके स्त्रियों को घसीट लाया रावण के सामने हम्म। तो बाहर तेज दीन पुकार तो स्त्रियां जब बाहर आई वहां पर तो दीन पुकारने लगे कि मैंने रावण के सामने बचाओ बचाओ बचाओ ये मानव मुझे मार रहे हैं इस प्रकार से करने लगे और कहीं कहीं तो ग्रंथों में ये भी लिखा कि स्त्रियां रावण को धिकारने लगी कहा कि तुम्हारे रहते हुए इतने शक्तिशाली इतना महान अपने आप को समझते हो और तुम्हारे रहते हमारी ये दशा हो रही है तो दिए तो दशक अंदर मोर की गति हो जैसे शूर्पनखा ने आकर रामा से कहा कि देखो तुम ऐसे बड़े राजा बने बैठे हो इतने शक्तिशाली बैठे हो तुम्हारे होते हुए हमारी नाकाम कर ली जाए ऐसे सब स्त्रियां वहां की कहती है कि देखो कि तुम्हारे रहते हुए हमारी दशा हो रही बाल खींचे जा रहे हैं हमारी ये दशा हो रही है और तुम हमको बचाते नहीं हो कोई कोई स्त्रियां कहती हैं कि जो तुमने किया अब सीता को तुम हरण कर लाए उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें युद्ध करना पड़ रहा है और तुम्हारी दशा ये हो रही है और तुम्हारे कारण से हम हमको भी अपराध तुम्हारा और सहन कर रहा हमको हमें जो है ये तुम्हारे जो है ये इस प्रकार का व्यवहार तुम्हारे साथी कर रहे हैं उसे सहन करना पड़ा इस प्रकार से जब स्त्रियां बहुत चिल्लानी रावण के सामने तब रावण को जो है वो हो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ तो उसने क्या किया कि तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम तब महाक्रोधी होकर के जैसे यमराज ही होकर ऐसे ही करके वो क्रोधित होकर के एकदम से उठा छोड़ दी यज्ञ मैंने यज्ञ वहां से विध्वंस हो गए खत्म हो गए अब उठ के खड़ा हुआ तो क्या कहे कहीं चरण बांध डाल जो उसके पास पकड़ने बानर आ गए उनको ले लेकर के जमीन पर पटकने लगा बांधों को मारने लगा यही बीच कपिन विधन कर रावण दौड़ा बानरों की तरफ कुछ बानरों को पकड़ करके उनको मारने लगा तब तक बानर तो बहुत थे दूसरे बानर दूसरी तरफ से जा करके जो यज्ञ कुंड आग बाग चल जला रही थी पानी वानी डाल डूल के सामग्री को फेंक मार करके साफ खत्म कर दी यज्ञ बानरों ने ये कर दिया यही बीच कपिन विधन कर मख देख मन महो आ रही अब रावण ने लौट करके जब देखा पीछे की तरफ देखा तो वहां पर सब सामग्री गायब वहां तो देखा कि आज बात सब बुझ गई सब बिगड़ गया मामला वहां पर तब वो मन में हार गया हार के मैंने उससे उसका बस नहीं चला अब देखो रावण धीरे धीरे हारता जा रहा है हारने का वर्णन बीच बीच में आता जाता है मरेगा तब मरेगा लेकिन वो हारने लगा पहले ही तो कहते हैं मत देख मन मन हार मन से हार मानने लगा मैंने उसका जो <clears throat> मनोबल है वो घटने लगा पहले तो बड़ा अंकारी था अब उसे लगने लगा कि अब बस नहीं चला जब यज्ञ हम नहीं कर सके और इसे हम बचा नहीं सके तो अब क्या होगा ऐसे करके निराशा उसके मन में आने लगी और <clears throat> मरने के लिए वो अब उसके मन में आ गया इसके माने अब हम बच नहीं सकते हम मृत्यु आ गए तो यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास बानर लोगों ने किस तो इस प्रकार यज्ञ विध्वंस कर दी बानर भागे और भाग करके चले आए भगवान श्री राम ने तो एक कुशल शब्द जोड़ते हैं <clears throat> कि कुशल कपि आए माने बानर लोग भगवान के पास सब आ गए माने बानर लोगों को ऐसा नहीं कि बानर लोग वहां पर घुसे थे तो वो सबके सब वहीं मर जाते और सबको खा जाता रावण सो नहीं हुआ बात ये सबके सब कुशल पूर्वक ये सबके सब बानर लौट आए भगवान के चरणों में उन्होंने आकर के प्रणाम किया और भगवान समझ गए कि एक विध्वंस हो गया और रावण ने क्या किया कि चले उन्हें साक्षर क्रुद्ध हुई अब साक्षर अब युद्ध करने के लिए चला हुआ और त्याग जीवन के आस त्याग जीवन के आस माने जीवन जीने की आशा खत्म माने इतना मन में हार गया कि इसके माने अब बच नहीं सकते अब तो मरे बस ऐसा निश्चय तो आप देखो जब भी वो युद्ध करता है इस प्रकार से रावण तो धीरे धीरे करके वो पराजित होते जाता है कहीं बेहोश हो जाता है कहीं रथ टूट जाता है कहीं गिर जाता है ये सब उसकी पराजय धीरे धीरे करके यज्ञ करता उसमें भी सफल नहीं होता ये भी उसकी पराजय इस प्रकार से <clears throat> जब व्यक्ति का विनाश होने को होता है तो उसके संकेत <clears throat> पहले से मिलने लगते हैं हम्म? आप जहां कहीं देखेंगे तो ध्यान देंगे तो इसी प्रकार से जब जब व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलते हैं निशाचरी प्रवृत्ति उनकी होती है <clears throat> तो पहले तो रावण की तरह तीनों लोगों का स्वामी होता चला जाए और उस समय लोग देख करके अरे दुनिया में कहा धर्म रह गया है अधर्मी लोग ही बड़े विजयी होते हैं वही लोग सबसे सफल होते हैं उन्हीं की धाक दुनिया में है जब तक वो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तब तक तो सब संसार यही कहेगा ये मनुस्मृति में एक श्लोक इसी प्रकार का आता है कि अर्जन के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को प्रारंभ में आशातीत तो सफलता मिलती है दूसरे लोग उसके आशा नहीं कर सकते उतनी सफलता मिलती है लेकिन बाद में फिर उनका ऐसा उनका विनाश होता है ऐसा होता है कि अंत में बिल्कुल धूल में मिल जाते हैं चौपट हो जाते मैंने ऐसा नहीं कि कहीं बीच में उनका फिर रुके तो विनाश होता है तो बिल्कुल विनाश होता <coughs> अब ये तो इस प्रकार के इतिहास प्राचीन काल में भी होते रहे और प्राचीन काल की बातों को ऐतिहासिक बातों की पौराणिक बातों को गप कर माने तो वर्तमान में देख लो वो तो प्रत्यक्ष है वहां पर आप देखेंगे कि लोगों का कितना विकास होता हुआ दिखाई देता होता चला जाता तो धर्म के द्वारा कितना होता चला जाता साल दो साल दस साल में ही व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है एक पर बकरी चलाने वाला व्यक्ति राजा बन जाए ऐसी स्थिति को पहुंच जाए देखते देखते इस प्रकार से बन जाए अब फिर उसका देखो कैसे कैसे फिर उसका विनाश शुरू हो तो जब विनाश शुरू होता है तब अब जब वो उसका विनाश होता तो अकेले थोड़ा होता है वो दस बीस सौ दो सौ पांच सौ हजार को ले डूबता है रावण भी चले जैसे कुंभकर्ण को देखे चले कुंभकर्ण का शरीर जब गिरा तो जने कितने निशाचर दब गए कितने बालक दब गए उसके शरीर में मरते मरते जब गिरा तो दब गए दब गए माने उसके साथ और लोगों का भी विनाश हो जाता है उसी के अपने लोगों का विनाश हो जाता है परिवार वालों का मित्रों का उनका भी सबका विनाश तो बस अब रावण जो है वो जीवन की आशा छोड़ करके क्या करता है अब युद्ध के लिए सुविधा हो ही गया था प्रातःकाल युद्ध विध्वंस हुआ है अब युद्ध का समय भी आ गया है तो राम युद्ध की तैयारी करता है और युद्ध क्षेत्र में मरने के लिए चल देता है हम्म, युद्ध तो होता बड़ा भयंकर लेकिन वो अब जो व्यक्ति सवेरे ही से युद्ध के क्षेत्र में जा रहा हो और त्याग जीवन गया अब समझ लो ये भी एक उसकी पराजय का सूचक है ये जो आगे जो कुछ घटना घटनी होती है वैसे ही उसके भासने लगती है मन में भीतर से लगने लगता है उसकी सूचना कि देखो पहले से जो निराश होकर के युद्ध क्षेत्र में जा रहा है इसके माने अब बच नहीं सकता मरेगा आगे देखिए चले चलत हो अति अशुभ भयंकर बैठेंगी देवराणी सिरन पर